परम पिता परमात्मा का स्मरण शुद्ध स्वरूप पवित्र परमात्मा प्रणव ध्वनि ओ प्रेमी सज्जनों आर्यों को परमात्मा के प्रति क्या भाव रखना चाहिए परमात्मा की स्तुति और प्रार्थना कैसे करनी चाहिए इसके लिए महर्षि दयानंद ने आर्याभिविनय ग्रंथ में वेद के चुने हुए मंत्रों को संग्रहित किया इन मंत्रों से स्तुति और प्रार्थना करते हुए हम परमात्मा को किस प्रकार संबोधित करें परमात्मा के प्रति कैसा भाव रखते हुए उससे स्तुति और प्रार्थना करें इसके लिए महर्षि ने प्रथम मंत्र के व्याख्यान में परमात्मा को विभिन्न शब्दों से संबोधित किया पिछली चर्चा में हमने नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव इसके नित्य शब्द पर चिंतन किया तो जब परमात्मा को हम संबोधित करेंगे हे नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव तो नित्य स्वभाव के बाद में दूसरा शब्द है यहां पर शुद्ध स्वभाव शुद्ध का मतलब पवित्र साफ सुथरा मलिनता से रहित दोषों से रहित धातु की दृष्टि से देखें तो शुद्ध धातु शौचे शुद्ध शौचे शौच अर्थ में आती है शौच शब्द में शुच धातु है तो शुचिर पूति भावे पवित्र करने अर्थ में और उसमें धातु है पूय पूय पवने पवन अर्थ पवित्र करने अर्थ में तो परमात्मा शुद्ध है इसका अर्थ परमात्मा पवित्र है स्वयं भी पवित्र है और दूसरों को भी पवित्र करता है स्वयं भी शुद्ध है और अन्यों को भी शुद्ध करता है शुद्धता और पवित्रता का व्यवहार हम लोक में सांसारिक वस्तुओं में सांसारिक व्यक्तियों के साथ में जब करते हैं तो उसके विभिन्न अर्थ होते हैं यदि हम दूध की शुद्धता का कथन करें तो इसका मतलब है उस दूध में कोई मिलावट नहीं है पानी नहीं डाला हुआ है शुद्ध दूध की हम बात करें तो इसका मतलब है उसमें कोई गंदगी नहीं डली हुई है कोई अन्य साबुन आदि डाल करके अरारोट आदि डाल करके उसको दूषित नहीं किया गया है अन्य किसी वस्त्र स्थान की हम बात करें तो वहां भी जब हम शुद्ध और पवित्रता की बात करते हैं तो कोई मलिनता वहां नहीं है इन सब शुद्धताओं में पवित्रताओं में एक बात छुपी है कि यह हमारे लिए हानिकारक नहीं है हम मलिन वस्त्र को क्यों नहीं धारण करते क्योंकि मलिन वस्त्र हमें हानि पहुंचाता है हमें बाधा उत्पन्न करता है उसमें दुर्गंध होती है उसमें रोग के कीटाणु होते हैं दिखने में अच्छा नहीं लगता है भोजन पवित्र है इसका मतलब उसमें हानिकारक वस्तुएं नहीं हैं अच्छी तरह से बनाया गया तो पवित्रता और शुद्धता के साथ में अहानि करता हानि न होना ये भाव भी जुड़ा है और वो हमारे लिए हितकर स्थिति में है ये भी जुड़ा हुआ है तो जब हम परमात्मा को शुद्ध स्वरूप संबोधित करते हैं परमात्मा की शुद्धता का भाव किस रूप में हमारे सामने आना चाहिए क्या क्या हम शुद्धता देख सकते हैं परमात्मा की शुद्धता किस रूप में है परमात्मा ज्ञान स्वरूप है इसलिए परमात्मा का जितना ज्ञान है वो शुद्ध है जो वस्तु जैसी है उसको वो ठीक ठीक वैसा ही जानता है इस दृष्टि से उसका ज्ञान शुद्ध है संसार में जो गलत बातें हैं उनको भी परमात्मा यथावत जानता है उन गलत बातों को गलत ज्ञान को उल्टे ज्ञान को वो उल्टे ज्ञान की तरह ही जानता है तो इस दृष्टि से भी उसका ज्ञान शुद्ध है जिस प्रकार से हमारे अंदर मिथ्या ज्ञान होता है विपरीत ज्ञान होता है भ्रांति होती है उसमें हम किसी वस्तु को जैसी है वैसा ना मान करके वैसा ना जान करके भिन्न रूप में जान रहे होते हैं अब ये जो हमारा मिथ्या ज्ञान है इस मिथ्या ज्ञान को परमात्मा यथावत जानता है परमात्मा की जानकारी में संसार की समस्त अच्छी वस्तुएं और बुरी वस्तुएं अच्छे विचार और बुरे विचार जो अन्य प्राणियों में हैं परमात्मा उसको यथावत जानता है इस दृष्टि से भी परमात्मा शुद्ध है जो वस्तु जैसी है उसको वैसा ही जानता है हमारे मिथ्या ज्ञान को परमात्मा जानता है इससे परमात्मा का ज्ञान मिथ्या नहीं होता अशुद्ध नहीं होता क्योंकि वो मिथ्या को मिथ्या के रूप में जान रहे हैं तो परमात्मा का समस्त ज्ञान शुद्ध है परमात्मा में आनंद है तो परमात्मा का आनंद भी शुद्ध है परमात्मा के शुद्ध आनंद का अभिप्राय उसके अंदर दुख नहीं है परमात्मा के आनंद को लेने में कोई हानि नहीं है कोई आशंका नहीं है जैसे सांसारिक सुखों को प्राप्त करने में हमें हानि की संभावना दिख सकती है वहां हानि की संभावना दुख की संभावना होती है तो परमात्मा के आनंद में कोई दुख नहीं है कोई हानि नहीं है इसलिए उसका आनंद भी शुद्ध है परमात्मा न्यायकारी है तो उसका न्याय पूरी तरह शुद्ध है न्याय की शुद्धता उसकी पक्षपात रहितता पर निर्भर करती है परमात्मा न्याय करता है पाप और पुण्य का निर्णय करता है दंड देता है पुरस्कार देता है उन्नति के अवसर देता है इस रूप में वो न्यायकारी है लेकिन उसका ये समस्त निर्णय समस्त कर्मफल व्यवस्था दंड व्यवस्था पक्षपात रहित है वैसे न्याय पूर्ण न्याय उसी को कहेंगे जो पक्षपात रहित हो लेकिन एक मोटे तौर पे यदि कोई स्वीकार करे कि परमात्मा न्यायकारी है हमें कर्मों के अनुसार फल देता है पर लोक में चूंकि ऐसे न्याय करने वाले पक्षपात युक्त भी देखे जाते हैं इसलिए मात्र न्यायकारी कहने से वो पक्षपात रहित है ये पूरी तरह निश्चय नहीं हो पाता है तो परमात्मा की न्याय व्यवस्था परमात्मा का न्यायकारी गुण पूर्ण शुद्ध है पक्षपात रहित है परमात्मा के जितने कर्म हैं चाहे मनुष्यों को बनाना अन्य प्राणियों को बनाना समस्त सृष्टि को बनाना तो परमात्मा के समस्त कर्म शुद्ध हैं कर्मों की शुद्धता किस रूप में देखें कि जो कर्म जैसे किया जाना चाहिए बिल्कुल उसी तरह से कर रहा है उसमें कोई दोष नहीं है उसमें कोई न्यूनता नहीं है जितना अच्छे से अच्छा किया जा सकता है जितना अच्छा कर्म हो सकता है वो वैसा का वैसा परमात्मा में है इसलिए परमात्मा के कर्मों की भी शुद्धता है हम लोक व्यवहार में दूसरे की भावना की शुद्धता अशुद्धता पर भी ध्यान देते हैं दूसरा व्यक्ति हमें कोई निर्देश कर रहा है उपदेश दे रहा है सहानुभूति प्रकट कर रहा है उन सब में हम ये भाव देखते हैं कि सामने वाला शुद्ध भाव से कर रहा है या अशुद्ध भाव से कर रहा है वो अपने स्वार्थ की दृष्टि से कर रहा है कोई किसी कुटिलता से कर रहा है अथवा मात्र हित की भावना से कर रहा है तो भावनाओं को हम शुद्धता अशुद्धता के रूप में देखते हैं इस रूप में परमात्मा को यदि देखें तो परमात्मा का हमारे प्रति जो भाव है वो पूर्ण शुद्ध है कोई व्यक्ति हमें कोई वस्तु देता है यदि हमें विश्वास है कि ये सामने वाला व्यक्ति मेरा मित्र है शुद्ध भावना वाला है और हमें आवश्यकता है तो हम सहजता से ले लेते हैं लेकिन सामने वाला अच्छी चीज दे रहा हो लेकिन हमारे मन में आशंका है कि इसका भाव गलत है ये दे करके कुछ दुरुपयोग करेगा दे करके कुछ मेरे साथ में दुर्व्यवहार करेगा मेरे को बंधन में डालेगा मेरे को परतंत्र बनाएगा अपना कोई स्वार्थ सिद्ध करेगा आके तो हम लेने में संकोच करेंगे तो अन्य क्रियाएं अन्य दान आदि भी भावना पर निर्भर करते हैं तो परमात्मा हमें इतनी सारी चीजें देता है परमात्मा हमारे लिए बहुत सारे कर्म करता है उन सब में परमात्मा का भाव शुद्ध है पवित्र है उसमें कोई मलिनता नहीं है तो परमात्मा को जब हम शुद्ध रूप में देखते हैं तो उसका ज्ञान शुद्ध है उसके कर्म शुद्ध हैं उसका आनंद शुद्ध है उसकी न्याय व्यवस्था शुद्ध है उसके भाव शुद्ध हैं परमात्मा का हमारे संबंधित जितना भी व्यवहार है उसमें किसी स्तर पर हम यदि अशुद्धि देखने लग जाए तो हम उसको नहीं पढ़ेंगे हम उसे नहीं पाना चाहेंगे आर्य को जब ये विश्वास हो जाता है कि परमात्मा तो शुद्ध ही है उसको शुद्ध स्वीकार कर लेता है तो उसे किस बात का संकोच शुद्ध वस्तु सदा हितकारी ही होगी परमात्मा के समस्त विधि निर्देश समस्त उपदेश वेद में दिया गया उपदेश वो सब अत्यंत शुद्ध है तो परमात्मा के द्वारा जो भी कहा गया है वो सारा का सारा आर्य को शुद्ध ही दिखाई देगा यदि आर्य श्रेष्ठ धार्मिक व्यक्ति परमात्मा को शुद्ध नहीं मानता है तो उसके निर्देशों में वो दोष देखेगा उनको अस्वीकार करेगा आशंका करेगा जो व्यक्ति परमात्मा को शुद्ध मानते भी हैं लेकिन परमात्मा के इन सब गुणों में शुद्धता नहीं देख रहे होते तो उनके मन में संदेह हो जाता है वो धार्मिक व्यक्ति मानता है कि ये वेद परमात्मा के उपदेश हैं और परमात्मा शुद्ध भी है लेकिन वेद मंत्रों में जब वो परमात्मा की स्तुतियां देखता है एक के बाद एक एक के बाद एक बहुत अच्छी अच्छी स्तुतियां तो उसके मन में शंका हो सकती है जैसे संसार में कोई व्यक्ति अपनी स्तुतियों को बताता रहे अपनी प्रशंसा करवाता रहे लोगों मुझे इस तरह पुकारो मेरी ऐसे प्रशंसा करो तो हमें कभी भी शुद्धता प्रतीत नहीं होगी हम उसमें दोष देखने लगते हैं और इस लौकिक व्यवहार के आधार पर जब हम वेद मंत्रों में परमात्मा की स्तुतियां देखते हैं तो मन में करते हैं कि नहीं मैं ऐसी स्तुति नहीं करूंगा क्यों अब इसमें भी वो परमात्मा के यद्यपि गुण देख रहा है कि परमात्मा कोई चापलूसी पसंद थोड़ना है परमात्मा कोई यश की यश की कामना करने वाला थोड़ना है ये परमात्मा को इन स्तुतियों से क्या लेना देना परमात्मा तो बहुत बड़ा है परमात्मा तो यश की कामना से ऊपर है उसको कोई न्यूनता नहीं है वो दूसरों से प्रशंसा क्यों चाहेगा अब एक तरफ परमात्मा को बहुत ऊंचे स्तर पे भी व्यक्ति देख रहा है लेकिन एक तरफ परमात्मा के उपदेश वेद मंत्रों के प्रति क्या भाव बना लिया कि स्तुतियां तो ठीक नहीं है मैं नहीं करूंगा परमात्मा के प्रति पूरी श्रद्धा भाव वो रख रहा है स्वीकार कर रहा है कि मेरे अंदर परमात्मा के प्रति पूरी श्रद्धा है लेकिन व्यवहार कैसा हो गया है कि नहीं वेद में जो इतनी स्तुतियां लिखी हैं ये ठीक नहीं है मुझे नहीं करनी चाहिए अर्थात उसमें वो दोष देख रहा है उसमें वो अपवित्रता देख रहा है तो वास्तव में वो परमात्मा को उतने अंश में अपवित्र मान रहा है पवित्र मानते हुए भी शुद्ध मानते हुए भी वो अपवित्रता का व्यवहार कर रहा है उसके अंदर बैठा हुआ है परमात्मा ने वेद मंत्रों में हमें प्रार्थना करने का निर्देश किया कि हमारे फल फूल हो गायें हों खूब दूध देने वाली हो वर्षा अच्छी हो इत्यादि लौकिक और भौतिक वस्तुओं की बहुत कामनाएं की गई हैं एक लौकिक व्यक्ति तो ये सब करता है लेकिन जब आध्यात्मिक व्यक्ति सोचने लगता है मुझे तो प्रकृति से दूर जाना है मुझे इन सब की प्रार्थना कामना नहीं करनी है ये भौतिकवाद है तो इस दृष्टि से वो उसको अपवित्र देखने लगता है उनसे पूछें कि आप परमात्मा की आज्ञा तो इस रूप में नहीं मान रहे हो यद्यपि इन सब चीजों का उपयोग करते हैं कामना भी करते हैं लेकिन अपने उपासना में प्रार्थना में उसको कभी ले लें तो उन्हें कुछ दोष लगने लगता है परमात्मा ने गृहस्थाश्रम का उपदेश दिया जब व्यक्ति अध्यात्म की तरफ आता है उस तरह के विचार वैराग्य के विचार वो सोचता है तो उसके मन में क्या भावना बनती है कि गृहस्थ अपवित्र है जो गृहस्थी व्यक्ति है वो अपवित्र है अब परोक्ष रूप से ये परमात्मा को शुद्ध नहीं देख रहा है गृहस्थ की व्यवस्था परमात्मा ने की है यदि परमात्मा की विधि के अनुसार गृहस्थ में कोई चलता है तो वो अत्यंत पवित्र है हम उसको अपित अपवित्र रूप में देख रहे हैं तो परमात्मा को हम अशुद्ध रूप में देख रहे हैं लेकिन व्यक्ति के मन में भाव रहता है नहीं मैं परमात्मा को तो शुद्ध पवित्र ही मान रहा हूं और बहुत सारी पवित्रताएं वो स्वीकार भी करता है लेकिन विभिन्न अंशों में जो अपवित्रता है उस अपवित्रता को वो पता ही नहीं कर पाता कि मैं परमात्मा को इस ढंग से अशुद्ध ही मान रहा हूं उसके ज्ञान को अशुद्ध मान रहा हूं वेद मंत्रों में आया हमारे अस्त्र शस्त्र बहुत अच्छे होने चाहिए जो दुष्ट व्यक्ति हैं उनका नाश करना चाहिए अब ये उपदेश भी अशुद्ध नहीं हो सकता क्योंकि वो परमात्मा का उपदेश है वो शुद्ध स्वरूप है उसकी कोई विधि अशुद्ध नहीं हो सकती लेकिन जो परमात्मा को शुद्ध मानता है जब अध्यात्म की तरफ आता है तो उसे लगता है ये गलत है ये तो अशांति फैलाने की बातें हैं ये तो झगड़े की बातें हैं और उसको अशुद्ध गलत मानने लगता है परमात्मा का जो भाव था दुष्ट व्यक्तियों को रोकने के लिए ये साधन आवश्यक है एक निर्देश है और ये करना ही होगा नहीं तो हम शांति से नहीं रह सकते अध्यात्म में भी गति नहीं कर सकते पर जब शांति का प्रेम का अर्थ कोई गलत ढंग से समझ लेता है तो इन उपदेशों को गलत समझने लगता है और परमात्मा को परोक्ष रूप से वो अशुद्ध मान लेता है आध्यात्मिकता और धर्म में द्वेष की बात तो बहुत दूर की क्योंकि द्वेष को तो हमें छोड़ना है लेकिन जब वेद मंत्रों को देखते हैं तो उनके अंदर बहुत से बातें आती हैं कि दुष्ट व्यक्तियों का नाश हो जाए दुष्ट व्यक्तियों की संतानें नष्ट हो जाए जो मुझसे द्वेष करता है मैं जिससे द्वेष करता हूं उसको आपकी न्याय व्यवस्था में रख रहा हूं अर्थात वहां मंत्रों में प्रार्थना में संध्या में द्वेष का चिंतन हो रहा है वो आध्यात्मिक व्यक्ति सोचने लगता है नहीं उपासना में तो ये विचार आने ही नहीं चाहिए ये तो द्वेष गलत है लेकिन वैदिक दृष्टि से द्वेष है क्या जो गलत है जो दुष्ट है जो हानिकारक है जो ईश्वर की आज्ञा के विपरीत चल रहा है उसके प्रति जब हम ये भाव रखते हैं जिसे द्वेष कहते हैं ये शुद्ध द्वेष है ये विद्या युक्त है ये ईश्वर की आज्ञा के अनुरूप है इसमें कैसी है शुद्धता तो परमात्मा को जब आर्य शुद्ध कहे हे नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव परमात्मन हे शुद्ध स्वभाव वाले तो परमात्मा की शुद्धता की व्यापकता जितनी है वो व्यापकता हमारी सब क्षेत्रों में हो तो हम वास्तव में परमात्मा को शुद्ध देख पाएंगे और उसका लाभ उठा पाएंगे हम शुद्ध व्यक्ति या शुद्ध वस्तु को ग्रहण करना चाहते हैं उसके निकट आते हुए हमें कोई संकोच नहीं होता उसकी प्राप्ति में कोई संकोच नहीं होता उसकी सन्निधि हम चाहते हैं तो जब हम परमात्मा को शुद्ध मानेंगे पूरी तरह से तो हमारी कामना रहेगी कि हम उसकी सन्निधि को प्राप्त करें और उसके लिए ही प्रयत्नशील रहेंगे हमारे मन में ये आशंका नहीं होगी कि संसार के अनुसार हमें अभी चलना चाहिए लोग जैसा कहते हैं वैसा चलना चाहिए नहीं तो हानि होगी परमात्मा के अनुसार तो चलने की क्या आवश्यकता है लेकिन जिसे शुद्धता परमात्मा की ज्ञात है और परमात्मा की शुद्धता को जानने से उसको यह भी पता है कि अन्य मनुष्यों की उनके भावों की कितनी शुद्धता है या कितनी हो सकती है तो उसकी अपेक्षा परमात्मा की ही शुद्धता है उसकी सन्निधि ही मुझे प्राप्त है वो ही मुझे प्राप्त करनी है तो उसे कोई संकोच नहीं होगा संसार में बहुत से व्यक्ति ये मानते हैं कि यदि परमात्मा सर्वव्यापक है तो वो गंदगी में मलमूत्र में भी रहता है तो तो अपवित्र हो जाएगा परमात्मा तो पवित्र है इसलिए वो सर्वव्यापक तो हो ही नहीं सकता वो तो एक देशी है लेकिन परमात्मा की ये विशेषता है कि परमात्मा सर्वव्यापक होते हुए भी मलमूत्र आदि के अंदर भी विद्यमान होते हुए वो अपवित्र नहीं होता वो शुद्ध ही रहता है ये प्राकृतिक वस्तुएं उसको अशुद्ध नहीं कर सकती किसी मनुष्य के अशुद्ध विचार परमात्मा को अशुद्ध नहीं कर सकते तो जब साधक को आर्य को ये विश्वास रहता है कि परमात्मा जहां भी है वो पवित्र है और पवित्र ही पवित्र है तो मैं परमात्मा में जहां भी हूं वह परमात्मा के कारण तो मेरे में अपवित्रता नहीं आ सकती कहीं भी जाऊं गंदी से गंदी जगह में भी जाऊं तो वहां भी वो पवित्र परमात्मा बैठा है दुनिया में अच्छे बुरे सब स्थान हैं अच्छे बुरे सब तरह के व्यक्ति हैं हो सकता है हमारे आसपास कुछ बुरे व्यक्ति रहते हों कुछ बुरी वस्तुएं हों रहना पड़ता है हमारे को कई बार भौतिक रूप से हम उससे सुरक्षा भी रखते हैं लेकिन मन में एक ग्लानी बनी रहती इन लोगों के बीच में मैं पवित्र कैसे रह सकता हूं हम उनसे प्रभावित होने लगते हैं लेकिन यदि ईश्वर का विश्वास पूरा है शुद्ध परमात्मा यहां भी है तो मैं इन मलिन लोगों से प्रभावित होने की अपेक्षा शुद्ध परमात्मा से क्यों नहीं प्रभावित हो रहा हूं और जिसका भाव परमात्मा के प्रति गहन बन चुका है परमात्मा को पवित्र ही देखता है सब तरह से अब उसके आसपास कितने भी दुष्ट स्वभाव वाले लोग रहें कुछ भी गलत विचार करें कुछ भी गलत बोलें वो साधक किससे प्रभावित होगा उनसे प्रभावित नहीं होगा क्योंकि परमात्मा से वो प्रभावित है प्रभावित हो रहा है लेकिन ये समस्याएं हमारे साथ में कब आती हैं जब हम परमात्मा को शुद्ध रूप में देख नहीं पा रहे हैं और यदि देखते भी हैं तो इस रूप में कि बस परमात्मा शुद्ध है उससे मैं शुद्ध नहीं हो रहा हूं परमात्मा को शुद्ध रूप में देखने से मेरे में भी शुद्धता आ रही है ये भाव मन में नहीं है अन्य बुरे विचारे वाले विचार वाले व्यक्तियों को देख करके ये लगता है कि मेरे में भी बुरे विचार आ रहे हैं ये हमारी अपनी कमजोरी है हमारी दुर्बलता है यदि परमात्मा के प्रति ठीक भाव बन जाए दृढ़ भाव बन जाए तो कोई कैसा भी व्यक्ति हमारे पास में रह रहा हो हमारे घर का हो हमारे कमरे में रह रहा हो हमारे मोहल्ले का हो हमारे गांव में हो उसे अपवित्र होने की अपवित्र विचार आने की आशंका नहीं हो सकती और ऐसे में वो अपना समय इसके लिए भी नहीं लगाएगा कि देखो दुनिया कैसी हो गई ये कैसा व्यक्ति है ये ऐसा है ये ऐसा है इसी में ही बहुत सारा समय हमारा चल जाता है चला जाता है और हम रोते रहते हैं इतना विपरीत वातावरण इसमें कैसे साधना करें ऐसे दुष्ट लोग उनके बीच में कैसे साधना करें अर्थात हम इन सब से बहुत प्रभावित हो रहे हैं और परमात्मा से प्रभावित नहीं हो रहे तो एक आर्य के मन में जब परमात्मा बैठता है परमात्मा का सच्चित आनंद स्वरूप बैठता है उसकी नित्यता बैठती है तो साथ में उसकी शुद्धता भी बैठानी होती है हे नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव परमात्मा आप शुद्ध हैं और मुझे आपसे ये शुद्धता प्राप्त होगी आपके स्मरण से भी मेरे अंदर शुद्धता आती है अन्यों की अशुद्धि से मैं बचता हूं आपकी जितनी प्रेरणाएं हैं वो सब शुद्ध हैं और मैं शांत होकर के जब आपकी प्रेरणाओं को सुनूंगा उसके अनुसार चलूंगा तो मैं शुद्ध ही रहूंगा मेरे को किस बात का भाई परमात्मा के प्रति शुद्धता का भाव अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए लगभग प्रारंभ में महर्षि ने संबोधित किया है नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव परमात्मा मन में भावना रखते हुए ओम का उच्चारण ओ